तो फिर ए पैगंबर क्या तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों को और उन लोगों को रास्ते पर लाओगे जो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं